फिर जब वो उस बात को भूल गए जिसकी उन्हें नसीहत की गई थी तो हमने उन लोगों को बचा लिया जो बुराई से रोकते थे और हमने उनको सख्त अजाब में पकड़ लिया जिन्होंने जुल्म किया था इस वजह से कि वो नाफरमानी करते थे